जब उस लड़की की आवाज विक्रांत ने सुनी तो फिर उसे पूरा यकीन हो गया कि इस लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा तेरह साल ही होगी ऐसे में उसने तुरंत ही उससे कहा अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए तुम स्कूल नहीं जाती क्या आज संडे है पापा अभी अभी नाव से लौटकर आए हैं वो तो खाना खाने के लिए घर गए हुए हैं अभी खाना खाकर वापस आएंगे लड़की ने विक्रांत को जवाब दिया अच्छा आप ये मछली ले लो ना साहब बिल्कुल फ्रेश है अभी अभी आया है विक्रांत ने बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा और फिर उसकी नजर शॉप पर पड़ी वहां पर पांच बड़े बड़े प्लास्टिक के टब रखे हुए थे जो कि मछलियों से भरे हुए थे कुछ पल तक सोचने के बाद विक्रांत ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा अच्छा अगर मैं तुमसे मछली खरीद लेता हूँ तो तुम मेरा पूरा इंतजाम करके दोगी पूरा इंतजाम मतलब उस लड़की ने विक्रांत की तरफ देखते हुए असमंजस भरी नजरों से देखते हुए कहा अरे मतलब इसे काट के और पंख वगैरह निकाल के दोगी विक्रांत ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी उस लड़की ने तुरंत ही अपने हाथ में चाकू और छुरी लेकर उसे आराम से रगड़ना शुरू कर दिया जिसे देखकर तुरंत विक्रांत समझ गया कि लड़की मछली काटने और उसे साफ करने में एक्सपर्ट है बोलो साहब कितना दे दू उस लड़की ने फिर से विक्रांत से सवाल किया मैं तुमसे खरीद तो लूंगा लेकिन पहले तुम मुझे कुछ बताओगे विक्रांत उस लड़की के टैलेंट को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ क्या जवाब दू मैं तुमसे कुछ पूछूंगा अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मछली खरीद लूंगा विक्रांत ने उस लड़की से कहा और फिर इसके बाद विक्रांत ने उस लड़की को दयाकर की फोटो दिखाते हुए कहा इसको पहचानते हो कभी इसको देखा है वो लड़की काफी कंफ्यूज दिख रही थी उसने आज तक ऐसा कस्टमर कभी नहीं देखा था जो कि उससे इस तरह का सवाल करे लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए विक्रांत के फोन में बड़े ध्यान से देखना शुरू किया फिर उसमें नजर आ रही फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगी और फिर कुछ देर तक उसमें ध्यान से देखने के बाद उसने अपना सिर ना महिला दिया तभी वहां पर सायरन की आवाज सुनाई देने लगी कुछ ही पल में दो तीन पुलिस कार वहां आकर रुक गई पुलिस वाले उतरकर सीधे ही उस ग्रुप की तरफ बढ़ने लगे जो कि अभी आपस में लड़ रहे थे अब तक झगड़ा काफी बढ़ चुका था दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने आ चुके थे और अब किसी भी पल उन दोनों ग्रुप्स में फाइट शुरू हो सकती थी हम्म अब विक्रांत से रहा नहीं गया सो उसने उस लड़की से पूछ ही लिया अच्छा यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है ओह उस लड़की ने पहले थोड़ी डरी हुई नजरों से उन ग्रुप्स की तरफ देखा उसकी आंखें देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं कोई पुरानी लड़ाई है ये लोग अक्सर ही लड़ते रहते हैं अच्छा विक्रांत ने भी उस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई वो फिर से अपने काम की बात करने लगा उसने फिर उस लड़की को एक एक करके समंता और बाकी के लोगों की फोटो दिखाते हुए उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया विक्रांत को पूरा यकीन था कि अगर अदृश्य शक्ति उसे डुप्लीकेट टास्क के बहाने से यहाँ तक लेकर आई है तो फिर निश्चित रूप से उसे कोई न कोई क्लू जरूर मिलने वाला हो सकता है कि ये छोटी लड़की ही उसके केस को सॉल्व करने में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस दे दे आप क्या बातें कर रहे हैं साहब इन लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं उस लड़की को काफी हैरत हो रही थी उसने अपने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए कहा देखो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो फिर मैं तुम्हारी सारी फिश खरीद लूंगा विक्रांत जल्द से जल्द क्रू हासिल करना चाहता था ऐसे में उसने उस लड़की से प्रॉमिस कर दिया कि वो उसकी सारी मछली खरीद लेगा अरे सच में उस लड़की ने आंखें बड़ी करते हुए कहा मानो उसे विक्रांत की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ उसने तुरंत ही अपने हाथ में लिए हुए चाकू को नीचे रख दिया और फिर अपने कपड़ों से हाथ पहुँच विक्रांत के हाथ से उसका फोन झपट लिया और फिर बड़े ध्यान से फोटो देखने लगी विक्रांत ने भी बड़े आराम से अपना फोन उस लड़की के हाथों में पकड़ा दिया और बड़े ध्यान से उस फोटो को देखते हुए देखने लगा अब जाकर उसके डुप्लीकेट टास्क के होने का एग्जैक्ट टाइम हुआ था ऐसे में इस वक्त विक्रांत उस लड़की की तरफ और एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था उसे पूरी उम्मीद थी कि इस वक्त उसे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्लू जरूर मिलने वाला है लेकिन जैसे ही उधर डुप्लीकेट टास्क के होने का टाइम हुआ तुरंत ही पीछे की तरफ का शोर शराबा और ज्यादा बढ़ गया दोनों गुटों के बीच में चल रही लड़ाई में अब लोकल पुलिस वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो किसी ने पुलिस वाले को धक्का दे दिया जिससे एक पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा उधर भीड़ काफी ज्यादा उग्र हो चुकी थी ऐसे में बाकी के पुलिस वाले भी आगे बढ़कर लड़ाई रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे हालांकि जो पुलिस वाला जमीन पर गिरा हुआ था वो बार बार चिल्लाते हुए उन लोगों को आपस में लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी थोड़ी ही देर में अचानक से एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप वाले के किसी आदमी के ऊपर अटैक कर दिया जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया अभी दूसरे ग्रुप वाले ने भी जवाबी अटैक शुरू ही किया था कि एक अजीब सी शक्ल का आदमी विक्रांत की तरफ बढ़कर आने लगा उसने सिर्फ नीले रंग की जाली वाली बनियान पहन रखी थी और नीचे लुंगी लपेटी हुई थी सिर पर तरीक भी बाल नहीं बचे थे और शरीर का रंग कुछ इस तरह का था जैसे मानो किसी ने उसे काले रंग से पेंट कर दिया हो परंतु विक्रांत को ये लग ही रहा था कि वो शख्स उससे भिड़ने के लिए आ रहा है लेकिन जब वो करीब आया तो विक्रांत को समझ में आया कि दरअसल वो दोनों उस लड़की की शॉप पर आए हुए थे पहले तो उस शख्स ने लड़की को बेहद अजीब सी नजरों से देखते हुए उसे डराने की कोशिश की फिर जब वो लड़की डर के मारे दुबक कर पीछे हो गई तो फिर उसने शॉप में रखी हुई छुरी को हाथ में उठा लिया और फिर खौफ दिखाते हुए उसने वहां पर रखे हुए मछली से भरे टप पर एक जोर की लात मारते हुए उसे जमीन पर पलटा दिया ये देखकर वो लड़की रोने लगी उसने तुरंत ही विक्रांत का फोन वापस कर दिया फिर वो रोते हुए जमीन पर बिखरी हुई मछलियों को उठाने में लगी परेशान मत हो तुम्हारी एक भी मछली का नुकसान नहीं होगा मैं सारी मछली खरीद लूंगा विक्रांत ने उस लड़की को सांत्वना देने की कोशिश की नहीं वो मेरी चाकू भी ले गया अब मैं मछली कैसे काटूंगी उस लड़की ने अपने आंसुओं को पोषते हुए कहा अरे एक ही चाकू तो ले गया है वो कितना महंगा था विक्रांत ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की पापा बहुत गुस्सा करेंगे वो बहुत पुराना चाकू था लड़की ने सिसकते हुए कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर टेंशन मत लो मैं लेकर आता हूँ विक्रांत ने कहा लड़ना बंद करो अचानक फिर से जमीन पर गिरे हुए पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए कहा लेकिन भले ही वो पुलिस वाला चिल्लाते हुए उन लोगों को लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उन लोगों की फाइट नहीं रुक रही थी अब शायद उन लोगों को रोकना नामुमकिन ही था रुको दूसरे पुलिस वाले ने आगे बढ़ते हुए उन लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन अभी एक शख्स ने उसके ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया जिससे वो पुलिस वाला भी जमीन पर गिर पड़ा दर्द से कराते हुए उस पुलिस वाले ने जमीन पर पड़ते ही अपने हाथ में फोन निकाल लिया और फिर उसने तुरंत ही पुलिस स्टेशन फोन करके बैकअप फोर्स के लिए कॉल कर दिया अभी वो पुलिस वाला डरते डरते उन लोगों की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से उसे एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी बीच में खड़ा दिखाई पड़ा वो ब्लैक जैकेट वाला आदमी अचानक से अटैकिंग मोड में आ चुका था उसने एक टकले आदमी को उठाकर हवा में फेंक दिया और फिर अपने आगे खड़े दो लोगों की गर्दन को एक साथ जकड़ लिया उन दोनों को गर्दन से जकड़ते हुए उसे पीछे धकेलते हुए उसे एक दीवार से भिड़ा दिया